लेडीज टॉयलेट से फ्लश की आवाज आई और फिर जिया उठकर अपने कपड़े पहनने लगी लेकिन अपने बगल में खड़े विक्रांत को देखकर वो बहुत एम्बरेस फील कर रही थी विक्रांत हो गया जिया ने अपने कपड़े पूरी तरह से पहनते हुए कहा फिर विक्रांत और जिया एक साथ टॉयलेट से बाहर आए और विक्रांत ने अपनी आंख पर लगी काली पट्टी को हटा दिया दरअसल जिया के साथ टॉयलेट में आने से पहले विक्रांत ने बाइट्स रेस्टोरेंट्स के वेटर से कहकर अपने आंख पर काली पट्टी बंधवाई थी ताकि वो खुद को एक जेंटलमैन साबित कर सके टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद रेस्टोरेंट के सभी वेटर समेत कस्टमर भी विक्रांत और जिया को अजीब सी नजरों से देख रहे थे जिया को इस वजह से बहुत शर्म भी आ रही थी और वो किसी तरह अपनी नजर छुपाते हुए यहाँ से निकल रही थी जबकि विक्रांत सीना चौड़ा करके यहाँ से बाहर निकल रहा था उस दूर चलने के बाद ही उसे भी एहसास हुआ कि रेस्टोरेंट के वेटर उसे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं और इस वजह से जिया थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील कर रही है उसने वेटर्स की तरफ आंख दिखाते हुए कहा साले तेरी माँ की तूने कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या ज्यादा जोश चढ़ रहा है तो बता आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा विक्रांत की धमकी सुनते ही सभी के दिल में खौफ की तरंग दौड़ उठी फिर किसी ने भी विक्रांत और जिया को यूं घूरने की हिम्मत नहीं जताई रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद विक्रांत और जिया फिर से मशक्कत करते हुए गाड़ी में सवार हुए इसके बाद किसी तरह से विक्रांत ने गाड़ी की स्टेयरिंग एक हाथ से पकड़ी और दूसरा हाथ गेयर पर रखा विक्रांत और जिया यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े अच्छा आई एम सॉरी जिया ने शर्माते हुए कहा अरे अरे सॉरी क्यों कोई बात नहीं ये तो नेचर कॉल है वैसे अगर इस हालत में मुझे टॉयलेट जाना पड़े तो तुम्हें अपनी आंख ढकने की जरूरत नहीं है <laughs> विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा दरअसल वो जिया के दुखी मूड को थोड़ा ठीक करना चाहता था जिया ने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि वो अपना सिर नीचे करके ही बैठी रही लेकिन ये सब बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया है तो उसने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा अच्छा तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ क्या ये फर्स्ट टाइम था विक्रांत कुछ भी कहने के बाद जिया का मुंह देखते हुए उसका एक्सप्रेशन जरूर देख रहा था तुम चिंता मत करो इस कमीने आर्यन की उसके किए की सजा जरूर मिलेगी देख लेना तुम ये खुश नहीं रहेगा कभी अरे रो क्यों रही हो रोने से कुछ नहीं होता चुप हो जाओ अच्छा चलो एक काम करते हैं विक्रांत जिया को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था तुमने सिर्फ वाइन ही पी है और अभी तक मैंने भी कुछ खाया नहीं मुझे भूख भी लग रही है ऐसा करते हैं कि पहले किसी रेस्टोरेंट पर चलकर साथ में कुछ खा लेते हैं फिर पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा क्या कहती हो विक्रांत की बातों का जिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया बल्कि वो शांत होकर बैठी रही थोड़ी दूर तक रास्ते में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था विक्रांत ने उसके सामने ही गाड़ी रोक दी फिर जिया को गाड़ी से उतरने का इशारा किया जिया बिना कुछ रिएक्शन दिए गाड़ी से उतरने लगी अब तक रात के आठ बज चुके थे आज आसमान बिल्कुल साफ था तारों से सजा हुआ आसमान चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था ठंडी हवा रात के इस नजारे को और खुशनुमा बना रही थी विक्रांत ने गाड़ी से उतरते ही अपनी हथकड़ी को छुपाने के लिए उसे एक कपड़े से ढक दिया था ताकि किसी की नजर उनके हाथ में लगी हथकड़ी पर ना पड़े खुले आसमान के नीचे सजे हुए टेबल पर विक्रांत और जिया बैठ गए विक्रांत ने खुद के खाने के लिए एक प्लेट चिकन और दो बियर की बोतल का ऑर्डर दिया इसके बाद उसने जिया की तरफ इशारा करते हुए उसे भी ऑर्डर देने के लिए कहा लेकिन जिया अभी कुछ भी खाने के मूड में नहीं थी उसने अपनी तरफ से सिर्फ एक बोतल बियर ही ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी तो बहुत जल्द ही उनका ऑर्डर टेबल पर आकर लग गया विक्रांत तुरंत खाने में लग गया उधर जिया को भी ना जाने क्या जोश चढ़ा कि उसने एक ही झटके में बियर की पूरी बोतल खाली कर दी अरे अरे अरे आराम से आराम से क्या कर रही हो विक्रांत ने जिया के कपड़ों और गिरे बियर के कुछ चीटों की तरफ देखते हुए कहा हे हे जिया अजीब तरीके से हंसते हुए बोली बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है ना मेरी बचपन के बेस्ट फ्रेंड फिर लव फिर एंगेजमेंट उसके बाद इतना बड़ा धोखा वो भी मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर एक ही झटके में मैंने दोस्ती और प्यार दोनों खो दिया कोई भला किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है उसे मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई जिया ने विक्रांत वाली बोतल को अपने गले से उतार डाला जिया संभालो खुद को ये ये सब होता रहता है विक्रांत ने जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा तुम उसे ऐसे मत जाने दो रास्ते की ओर जरूर ले आना तुम कहो तो मैं नहीं जिया ने विक्रांत की बात खत्म होने से पहले ही उसे चुप करवा दिया कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे तो खुद से ज्यादा चिंता तो उस कमीनी विनीता के पति की है उस बेचारे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है हम्म, विक्रांत ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा तभी अचानक से उसने जिया से सवाल किया अच्छा ये बताओ तुम्हें इसके बारे में पता कब चला और कैसे कैसे पता चला आज सुबह ही मुझे विनीता के पति ने बताया जिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने शुरू हो गए थे उसने मुझे बताया कि वो कल रात किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था और विनीता ने उससे कहा कि वो आज ऑफिस में देर तक काम करेगी उसके पति को पहले से ही उस पर शक था उसने चुपके से कहीं कैमरा फिट किया हुआ था फिर अगले दिन कमीने आर्यन और विनीता का पूरा वीडियो उसने देखा देखकर उसने मुझे भी वही वीडियो भेजा था और मुझे पता है ये कोई पहली बार नहीं है ये लोग पहले भी कई बार ये सब कर चुके हैं जिया हाँ, ने रोते हुए कहा ओ फिर अब अब तुम्हारा क्या प्लान है तुम्हारी तो उसके साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है विक्रांत ने जिया की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा पता नहीं मुझे लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी जिया ने रोते हुए कहा इस कमीने ने मेरा क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट सब हड़प रखा है और अब सब कुछ ब्लॉक कर दिया है इसने मुझे सिर्फ रिलेशन में ही धोखा नहीं दिया है बल्कि मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है हम्म, साला कमीना अच्छा इसने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी थी ना वो कहा है तुम्हारे पास है गाड़ी विक्रांत ने सवाल किया नहीं उसका पेपर वगैरह सब कंप्लीट है लेकिन वो उसी के पास है वो चाहेगा तो कैंसिल भी करवा देगा मुझे पता है वो सब कुछ फ्रॉड कर रहा था मेरे पैसे लूट रहा था बस इसीलिए मेरे साथ था साला इसकी माँ की विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा जिया तुम मुझे उसका वीडियो दे दो बस फिर देखो इस कमीने को कैसे मैं लाइन पर ले आता हूँ नहीं विक्रांत नहीं तुम कुछ मत करो जिया ने विक्रांत को भीगी पलकों से देखते हुए कहा तुम अगर कुछ करोगे तो ठीक नहीं लगेगा मैं मैं खुद निपट लूंगी इस कमीने से विक्रांत चुप होकर बैठ गया वो सोचने लगा सच में ये प्यार इश्क का मामला बहुत खराब होता है बड़े बड़े मर्डर लूटपाट के केस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं लेकिन इश्क के मामले की सुनवाई करना बहुत मुश्किल काम है और सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो किसी इंसान के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आप बड़ी से बड़ी बीमारी का दवा करके और ऑपरेशन करके उसका इलाज कर सकते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से दुखी है या डिप्रेशन में है तो उसका इलाज किसी सर्जरी से नहीं कर सकते हम्म, विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी वो अगल बगल में बैठे लोगों पर नजर डालकर उनकी गतिविधि देखने लगा वहाँ आसपास काफी लड़कियां भी बैठी हुई थी सो विक्रांत को लगा कि उसे जिया का केयर करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि वो औरतों का बहुत ध्यान रखता है उसने जिया की तरफ थोड़ा आगे मुंह करते हुए कहा अच्छा मेरे पास एक कमाल का आइडिया है तुम अगर राजी हो जाओ तो क्या आइडिया है तुम रहने दो ना जिया किसी भी हालत में विक्रांत को खुद के और आर्यन की लड़ाई के बीच में नहीं लाना चाहती थी अरे बहुत आसान है तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरे साथ सो जाओ और फिर हम अपनी फोटो क्लिक करके उस कमीने के पास भेज देंगे फिर देखो वो कैसे चिढ़कर रह जाएगा विक्रांत ने यह सब भाव के साथ कहा था कि मानो वो जिया के लिए खुद का बलिदान करने जा रहा हो जैसे वो मन से चाहता तो नहीं है जिया के साथ सोए लेकिन अब दोस्ती के लिए ये कुर्बानी करने को तैयार है क्या विक्रांत का आइडिया सुनकर जिया दंग रह गई उसके पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचे थे विक्रांत से इस तरह की बात की उम्मीद तो उसे कभी भी नहीं थी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं क्यों नहीं जरूर सोएंगे हम साथ में जिया हाँ, ने हंसते हुए कहा हाँ ये हुई ना बात हंस पड़ी तुम ऐसे ही हंसते रहना हंसते हुए अच्छी लगती हो तुम विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे मुझे लग रहा था कि तुम्हें मेरा ये आइडिया पसंद आया है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है मैं दोस्ती के नाम पर यह कुर्बानी देने को तैयार हूँ विक्रांत की बातें सुनकर जिया फिर से हंस पड़ी इस वक्त उसके गालों पर आंसू की बूंद टपक रही थी जिया अपने हाथों से गाल पर गिरा हुआ आंसू पहुंच रही थी और इसी बीच विक्रांत का हाथ उसके गले से टच हो गया जिया की गर्दन छूते ही विक्रांत के शरीर में मानो करंट से दौड़ पड़ा उसके गर्दन का गर्म टेम्परेचर विक्रांत के हार्मोन्स को जगाने लग गया विक्रांत एक पल के लिए पुरानी यादों में खो गया जब पिछले जन्म में जिया उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तब ना जाने कितनी रातें उसने जिया की बाहों में लेटे हुए गुजारी थी आई एम सॉरी जिया ने विक्रांत से कहा तुम क्या कर रहे हो मैंने दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करने के लिए क्या राजी हो गया हूँ तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गई यही शुरू होगी सबके सामने ही विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा जिया भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कि अब जिया के इतना करीब आ गया हूँ तो हो सकता है कि मेरा और इसका कुछ हो ही जाए लेकिन अगले ही पल उसे थोड़ा बुरा लगा लेकिन इस तरह से किसी लड़की की बुरी हालत का फायदा उठाना ठीक नहीं है फिर विक्रांत को अपने दूसरे कोडवर्ड पानी की याद आ गई अब उसे समझ आ गया कि पानी कोडवट का मतलब लड़की से था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी विक्रांत ने अब तक मन ही मन सोच लिया था कि कुछ भी हो इस आर्यन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा जिया कितना भी उसे रोके लेकिन विक्रांत आर्यन को यूं ही नहीं जाने देगा आखिर उसकी इस जन्म की दोस्त और पिछले जन्म की प्रेमिका का सवाल है दो जन्मों का रिश्ता है भला जिया को दुखी देखकर चुप कैसे बैठ सकता था और विक्रांत को ये भी उम्मीद थी कि अगर उसका ये बदला लेने वाला प्लान कामयाब हो गया तो क्या पता जिया फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए उसने वहां बैठे बैठे ही अपने ब्लांड गैंग को मैसेज भेजकर एक्शन करने के लिए तैयार रहने को कहा अभी वो मैसेज सेंड करने जा ही रहा था कि अचानक से जिया ने उसके पीछे देखने का इशारा किया इस वक्त जिया के चेहरे पर डर का माहौल था